मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हैं और एक गंभीर समस्या के बारे में विचार से संवाद करने का समय मिलता है मैं इस बात को लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मराठी भाषा में बोलूंगा इसलिए हिंदी में बात करूंगा सरल भाषा में बोलूंगा आप समझ और इसलिए भारत में व्यापारी वर्ग है उद्योगपति वर्ग है सभी के सामने कुछ न कुछ समस्याएं आ इन सब समस्याओं के पीछे जो मूल कारण है वो हमारे देश की सरकार है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समझौता किया है सभी किया है उसका नाम है गैर करार बंदू की ओर और उन शर्तों को हमारे देश की सरकार एक एक करके लागू कर रहे हैं शर्तें है वो अंतर्राष्ट्रीय जागतिक स्तर के होने की और समस्या हमारे लिए कुछ लागू करने की तैयारी चल रही उसमें से गैर करार की जो शर्तें हैं डब्ल्यू की जो कंडीशन है उनमें से एक शर्त ये है कि भारत देश में फायदा बाजार को मान्यता दी जाए और उसको ऐसे ही स्थापित कराया जाए जैसे शेयर बाजार पर साक्षर होने के पहले हमारे देश में ये महिला भाषाएं का ज्यादा कुछ नहीं था ये सब अमेरिका में यूरोप के देशों में या तो सिंगापुर हमारे जो पड़ोसी देश है वहां पर या तो जापान में थोड़ा बहुत चल रहा है बाकी भारत में ये महिला भाषा का नहीं चल रहा लेकिन दसों किलो का रास्ता हमारे देश की सरकार ने इस फायदा बाजार को भारत में शुरू कर दिया दूसरी शर्त उसमें ये है कि वायदा बाजार जो आपने शुरू किया उसमें किस किस वस्तुओं के व्यापार में ये हो सकता है तो सोने चांदी धीरे जवाहरात गेहूं चावल चना दाल मटर आपके भारत में उत्पन्न होने वाली खेती की सभी वस्तुओं में और भारत के कारखाने में बनने वाली ज्यादातर वस्तुओं में इन सभी में फायदा होता है और जो उसको अमेरिका में करते हैं यूरोप में करते हैं वही उन्होंने भारत में आगे चालू अब इससे दुष्परिणाम भी शुरू हुआ है जब से सोने जाने के महत्वपूर्ण वस्तुओं को फायदा बाजार में शामिल किया सभी से मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में विशाल गिरावट विशाल गिरावट विशाल गिरावट आना शुरू हो वायदा बाजार जो है ना जो सबसे ज्यादा चीटिंग विषय है धोखाधड़ी का धंधा दूसरों को मूर्ख बना के लूट देने का दूसरों को उल्लू बना के लूट देने का धंधा ये इस तरह का धंधा है इसमें वास्तव तो में ना कुछ बेचा जाता है ना कुछ खरीदा जाता है ना आपके हाथ में कुछ खरीदा हुआ आएगा ना किसी के हाथ से बेचा हुआ जाएगा वास्तव में कुछ नहीं होता है ये सिर्फ कल्पना में चलता है और ये धंधा कैसे चलता है मैं इसे उदाहरण से समझा फायदा बाजार में जो एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं वो काम कैसे करते हैं एक उदाहरण से तो सवेरे सवेरे आती है दस ग्यारह बजे मुंबई में मुंबई इसका आश्रम केंद्र है दिल्ली भी इसका केंद्र है जयपुर में भी शुरू हुआ है अहमदाबाद बड़ोदरा जैसे बड़े बड़े शहरों में इनके ग्रामीण है कैसे ये होता है एक उदाहरण से समझाता सवेरे सवेरे बाजार बाजार एजेंट में गए और एक सूचना दे दिया कि दुबई से या संयुक्त अरब अमीरात से सोना भरा हुआ एक जहाज भारत के पर से खबर लेकर दुबई से आप जानते हैं दुबई में सोने का बड़ा भारी मिलता है गोल्ड सूप बना हुआ है बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर व्यापार करती है तो किसी कंपनी के एजेंट ने एक खबर दिया कि दुबई से सोना भरा हुआ एक जहाज जिसमें कल्पना करो दस तक बीस तक पचास तक कुछ भी उससे तो कहीं और सबसे पहला खेल ये हुआ कि आप बाजार में सोना आ रहा है तो जरूरत से ज्यादा सवेरे से बाजार खुला तो कल्पना करो सोना आठ हजार रुपए में दस ग्राम खबर आई तो तुरंत उसका असर हुआ कि सोना सात हजार रुपए दस ग्राम या साढ़े छह हजार रुपए दस हजार ग्राम जो भी कल्पना है दोपहर को खबर आई कि वो सोने का भरा हुआ जहाज एक तरह दोपहर को खबर आई कि वो शराब को थोड़ा समझ से रास्ते में डूब गए फिर क्या हुआ फिर ये एजेंट सक्रिय हुए और आठ हजार रुपये दस ग्राम का जो सोना था वो दोपहर तक आते आते साढ़े छह सात हजार रुपये में किया फिर वापस आठ साढ़े आठ हजार रुपये दस हजार रुपये फिर शाम को खबर आई कि जहाज का कैप्टन बच गया और उसको संभावना है कि रिकवरी हो जाएगी फिर शाम को भाव अभी दूसरे दिन क्या हुआ ना तो जहाज चला ना उसमें सोना आया ना कुछ हुआ लेकिन दिन भर में आठ हजार रुपए से साढ़े छह हजार या साढ़े छह से वापस आठ हजार का ये भाव में जो अंतर आया इतने में बालिका बाजार के खिलाड़ियों ने सैकड़ों कोटी रुपए कमाए एक झूठी खबर सैकड़ों कोटी रुपए मुंबई के वायदा बाजार में और भारत के जो उनके दूसरे नेटवर्क में सिर्फ सोने और चांदी के वायदा बाजार में पिछले साल चार हजार आठ सौ अस्सी कोटी रुपए हुए पिछले साल का मैंने दो हजार आठ हजार आठ सौ अस्सी कोटी रुपए कितनी बड़ी रकम होती है अगर आप इसको समझने की कोशिश करो तो इतनी रकम अगर क्षेत्रीय समाज को दे दी जाए क्षेत्रीय वर्ग के नागरिकों को दे दी जाए तो पूरे भारत के क्षेत्रीय कर्मियों हो सकते हैं और आप करना पड़ सकते हैं तो फायदा बाजार में अपने दूर से मुक्त हो गए तो शरद यादव ने मुझे कहा कि आप बात तो सही है लेकिन मैं तो कर नहीं सकता मैंने उनको पूछा क्यों नहीं कर सकते आप तो मंत्री है तो कह लगे मंत्री से बड़ा प्रधानमंत्री है उनसे बात प्रधानमंत्री के पीएमओ में हम लोग गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहते थे तो प्राइम मिनिस्टर से चर्चा हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता हमने लघु पीओ नाम का ये सही किया है उसकी ये शर्त है तो मैंने कहा कम से कम आप इतना तो करो कि हिंदुस्तानियों को टीवी पे जायदाद लेकर बोलो कि फायदा बाजार में ना कर सकते आपकी एक मजबूरी हमें समझते में आती है कि आपके मजबूरियों का करार सही क्या है अंतर्राष्ट्रीय करार है इसकी शर्त मानना आपकी मजबूरी है वायदा बाजार बोलना आपकी मजबूरी है समझ में आता है लेकिन दूसरी तरफ आप इतना कर सकते हो कि रोज टीवी पर एक वो लोग बोले जा रहे हैं समझ पा रहे हैं इसमें फंसे नहीं गए फंसे कंपनी का व्यापार करने वाला बड़ा व्यापारी जिसका सैकड़ों करोड़ रुपए का बिजनेस है उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जो साधारण मुझे में बनाकर मेरे गाँव के लोगों की जरूरत पूरी करते थे और आसपास के गाँवों की जरूरत पूरी करते थे अभी तो सोने का भाव एकदम से आठ हजार रुपए तक गया उसी में उनका अब वो तो क्या कर रहे हैं वो बेचारे सब दुकानें बंद करके शेर मजदूर की तरह से काम कर रहे हैं पूरे जो बताते हैं सवेरे भाव कुछ दोपहर को कुछ और जो रियल ट्रेजर है जो वास्तविक व्यापारी है जो सचिव सोने चांदी का कुछ न कुछ बनाकर बिक्री करते हैं वो इसमें सबसे ज्यादा मारा जिनको सिर्फ चिंतित करनी है धोखाधड़ी करनी है लूट मार करनी है उनको इसमें फायदा है तो हमारी सरकार ने एक खतरनाक खेल शुरू कर दिया और ये खतरनाक खेल जैसे सोने चांदी के सूचना हो रहा है अभी सरकार कोई ना कोई किसान नीति है तो इसके लिए भी उन्होंने उत्तराखंड होना ये मार्केट पूरा खुलने वाला है और अगले एक साल में इस बालिका बाजार में डेढ़ हजार से ज्यादा प्रदेशी कंपनियां तैयार हो रही हैं आने और उस समय जो फ्लक्चुएशन होगा तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते और उसमें होगा यह कि बड़े बड़े खिलाड़ी तो रह गए बाजार में छोटे व्यापारी सब खिला मेरी चिंता यह है धंधे तो होने बाकी लगभग बीस टका ऐसे व्यापारी हैं जो आपकी हैसियत से है जो यहाँ बैठकर मीटिंग कर सकते हैं और किराए पर ले सकते हैं माइक लगवा सकते हैं और मेरा व्याख्यान सुन सकते हैं लेकिन उन पिछहत्तर टका नहीं है हमारे पास इसलिए कह सकते हैं तो मुझे चिंता उनकी होती है जो ऐसे है और पचहत्तर टका है दो कोटी पचास लाख लोगों में पचहत्तर टका इस गरीबी की हैसियत में है कि मुश्किल से उनको दो समय की रोटी चल पाती क्योंकि कारीगरी में बहुत पैसा नहीं है जितनी मेहनत का काम है लेकिन पैसा उसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं आप देखते घंटों घंटों बच्चे हैं सब एक छोटा सा लागिना बेचारे भी कैसे तकलीफ में आती है तब जाकर एक छोटा दाखिला तैयार होता है लेकिन गाड़ी कहीं ज्यादा मिलती नहीं है क्योंकि इंटरनल कॉम्पिटिशन इतना जबरदस्त है इस देश में एक दूसरे के आपस के कॉम्पिटिशन कि वो ज्यादा मिल नहीं सकता है और ग्राहक भी इस देश का ऐसा ही है जो ज्यादा कारीगर को देना पसंद नहीं करता इस देश का ग्राहक कैसा मूल खाई में फंसा हुआ है वो बच्ची कोला कोका कोला पी के पैसा बर्बाद कर सकता है लेकिन आज करेगा पचास रुपये में जाना दो रुपये में जाना लिया दो और फाइव स्टार होटल में जाके बीस रुपए की चाय पिएगा पचास रुपए की कॉफी पिएगा पान रुपये खा के दूध देगा लेकिन वो गरीब आदमी को लोगों को तैयार नहीं यही आज सोनी गांधी के गांधी के लिए काम में लगे हुए करोड़ों करोड़ों नागरिकों का है जो कारीगर के रूप में काम करते हैं उनकी हैसियत बहुत छोटी है उन पर सबसे ज्यादा दुष्परिणाम होता है इस फायदा बाजार का मैंने आपसे कहा सदैव भाव को सुनेगा बंद होगा यदि किसी का दिन शाम को बंद होगा तो ये हमारे सरकार ने एकदम मूर्खाई का काम फायदा बता इससे भी ज्यादा डबल मूर्खाई का काम सरकार का कर सरकार कहती है कि हॉलमार्क ले लो ये हॉलमार्क क्या है मैं आपको समझाता आप देखते हैं कभी कभी सड़क पे जाते हुए किसी बड़ी कंपनी আমি দেখতে পাচ্ছি और ये यूरोप से शुरू हुआ अमेरिका में फैला और वहां से यहां अच्छा इस बॉल मार्च के धंधे में भी आपको ये कहा जा रहा है कि आपके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन देने उस रजिस्ट्रेशन की फीस बीस हजार रुपये तो बीस हजार रुपये भर दो आपको बॉल मार्च का रजिस्ट्रेशन माने सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें किसी का सही होगा बस आप लगा के रखो अब दागिने पर अलग से बॉल मार्च नहीं होते फर्म का आपकी कंपनी का उसको जी तैयार करो और फिर एक एक दागिने पर अलग से हॉलमार्क दो ये हॉलमार्क देने वाले जो लोग हैं उनको मैंने बहुत बार ये प्रश्न पूछा कि इसकी गारंटी आप देते हो कि जिस दागिने पर हॉलमार्क है वो एकदम खराब होगा तो उसने कहा इसके लिए थोड़ी और सौ प्रतिशत खराब सोने का दागिना है सौ प्रतिशत खराब भरोसा तो हमारे यहां ये पूरा का पूरा बिजनेस विश्वास पर आधारित है भरोसे पर आधारित है इसलिए हम अपने घर के सदस्यों जैसा व्यवहार होते काम करते हैं और वो भी हमारे साथ अपने सदस्यों जैसा व्यवहार करते हैं मैंने हिंदुस्तान में सोने चांदी के व्यापारियों की दुकान को छोड़कर ऐसी कोई दुकान नहीं देखी है जहां ग्राहक आकर ऐसे बैठता हो जैसे घर में इतना आसानी के साथ वो आपके साथ आगे बैठता है बात करता है शायद खरीदी तो दो चार मिनट में हो जाती होगी लेकिन जो बातें होती है सुख दुख की परिवार की एक दूसरे को समझने की वो तो बड़ी तो भारत में सोने चांदी के दागी मेले किसके परंपरा और विश्वास चला रहा अब इस परंपरा और विश्वास के साथ चलने वाले धंधे में हॉलमार्क होते का कुछ वो क्या होगा अभी तक तो आप अपने विश्वास को उसको देते थे और वो आपके विश्वास से खरीदता अब कोई दिन आपकी दुकान में तो आएगा और आप बोले देखो हमने जो हॉलमार्क का दादीना देना शुरू किया है तो हॉलमार्क का दादीना जैसे आप बोलते तो उसकी कीमत बढ़ने वाली क्योंकि आपने जो फीस भरी है बीस हजार रुपये रजिस्ट्रेशन किया है और प्रति दादीने के अलग से फीस आप जब दोगे हॉलमार्क के लिए आपका चुनाव आपको ग्राहक के अब उस शंका का समाधान करने के लिए आप उसको समझाओगे भाई पहले तो हम देते थे लेकिन अब जो तो विश्वास मुद्देदार को ग्राहक ही है और ग्राहक मुद्देदार को बंदा जैसे ही आपने शुरू किया तो आपके सारे पुराने ग्राहक जो तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं उनके मन में वायरस घुसेगा और वो ये सोचना शुरू कर देंगे कि पहले से दाखिल हमने पहले वो सब खड़े नहीं ले जाते अभी ये जो हौसला वाला दे रहे हैं अगर ये खड़ा है तो पहले वाला खड़ा नहीं था क्या और आप जानते हैं ना शंका का समाधान दुनिया में किसी भी चिकित्सक और डॉक्टर के पास नहीं है एक बार शंका घुस गई तो किसी दवा से नहीं निकलती कोई मेडिसिन काम नहीं करती भारत के बड़े बड़े व्यक्ति कहते हैं कि शंका का समाधान तो चरक ऋषि के पास नहीं है हर बीमारी का समाधान था लेकिन शंका एक ऐसी बीमारी होती है जिसका समाधान कोई नहीं कर पाता और अंत में जहां टूटता है विश्वास फिर टूटता है धंधा फिर टूटती है दुकान फिर टूटता है वो परिवार जब आपने उसको एक बार फिर दे दिया ना कि ये हॉलमार्क लगा हुआ दाखिला है ये जाकर खड़ा है तो वो देखेगा कि आपसे बड़ी दुकान कौन सी है जहां ये हॉलमार्क का दाखिला मिलता वो वहां जाएगा और वो उसके साथ करेगा हॉलमार्क के क्योंकि उसका ना परिवार है ना व्यापार और आप जानेंगे सोने चांदी के धंधे में खेती कितनी आसान है मैं तो इसमें ज्यादा नहीं समझता हूँ मेरे घर में सोने की चेन है इसका एक हिस्सा बहुत घरे सोने का है और बाकी तकलीफ होता हो तो मेरे पास कुछ जाता है इतना और अगर मैं इसको कह दो मीटर से भी पहचानने की कोशिश करो तो नहीं पहचान में आएगा क्योंकि सब कुछ छोटे से एक हिस्से में ही काम कर पाता है पूरे लाइफ में तो उतना तो थोड़ा सा हिस्सा खड़ा है और बाकी छोटा है तो मेरे पास कोई शख्स नहीं है और ये चीजें फिर बड़ी समस्या करेगी क्योंकि उनको धंधा नहीं करना तो चीटिंग नहीं करनी धंधा करने में और चीटिंग करने में अंतर है धंधा करने टका पांच टका दस टका तो भी हम उसमें संतोष करके चलाते हैं लेकिन जब हमारे दिमाग में भी है कि हजार टका आप समझ हो पंद्रह सौ टका हो दो हजार टका हो रिजल्ट कितना बड़ा हो तो ये सिर्फ चीटिंग से ही हो सकता है धंधे से कभी आप आमदनी कभी किसी में अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है ई डबास आ रहे हैं और उसके साथ और दस सारे कंपनियां इस साल आगे जा रही है सरकार ने उनको तो लाइसेंस दे दिया अब वो ये रिटेल बिजनेस में भी उतर रहे हैं और रिटेल बिजनेस में उतर के वो क्या करने वाले हैं उनके सामने जो कॉम्पिटिटर है वो पहले उनको ऑफर करेंगे कि या तो आप हमारे साथ ले जाओ नहीं तो हम आपको करवा सकते तो जो बड़ी फर्म है हिंदुस्तान में है जिनका नाम पिछले दस बारह साल में बना है या तो ये उनके पैसे ही बनेंगे उनके साथ कॉन्ट्रेक्टर करेंगे नहीं तो ये मार्केट से खलास होने वाले हैं इसलिए इन्होंने तो तय किया हुआ बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने को तैयार फिर आपके सामने समस्या आती जिनका बिजनेस बढ़ाना क्योंकि बड़ी कंपनी आपको अपने साथ जोड़ेगी नहीं और आपको चिंता नहीं रहेगी मार्केट उसके कॉम्पिटिशन में आप उतर नहीं सकते क्योंकि वो कॉम्पिटिशन में कितने नीचे जाएंगे आपको कुछ कल्पना नहीं मान लो कोई विदेशी कंपनी ने कोलहापुर में आके एक शोरूम खोला और उस शोरूम पर आधे कपड़े में पहले वस्त्र तो वाली लड़की बिठाना शुरू कर दी ऊपर से काली नीचे से काली और बैठी है एक लड़की मुस्करा के सबको हाय हलो कर रही है तो बहुत सारे ग्राहक को थोड़े से चरित्र में कमजोर है वो तो किसम से वो क्या कहेंगे यार खरीद नहीं रहा है तो चलो आराम से तो कुछ देखेंगे चलो भाई लाइन लगा के खड़े हैं मुझको तो ज्यादा में आठ प्रदेश की कंपनियों ने शॉपिंग मॉल की है पिछले साल भर में मैं जब भी जाता हूँ ये प्रश्न होता है और कॉलेज के लड़के लड़कियां संख्या में वहीं घूमते रहते हैं क्लास में नहीं जाते क्योंकि वहां काउंटर से लड़की बैठी कम कपड़े और उनको इंस्ट्रक्शन है कि शरीर दिखे ऐसे ही कपड़े पहने तो यहाँ खराब होकर तो नीचे आएंगे या वाले भी हमको लेके जाएंगे इसका कुछ नहीं वो तो इस तरह के धंधे कर रहे हैं और आप अपने साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते क्योंकि आपको धंधा करते हैं आप और आपके परिवार की मदद से वो तो धंधा करते हैं पैसे की मदद आपके लिए ये धंधा आपकी जिंदगी का रास्ता है हमारे जिंदगी को चलाने का जरिया है उनके लिए धंधा उनके पचासों धंधों में से एक है जिससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना उनके जीवन का धंधा नहीं है नजरिया नहीं है तो फिर आपको तो कॉम्पिटिशन में मिल गए और वो कॉम्पिटिशन में आप गए तो धीरे धीरे आउट हो जाए मुझे तो ये है कि ढाई करोड़ लोगों की जीविका से हैं तो इनको कौन सा दूसरा व्यापार हम दे सकते हैं या कहाँ इनको कमा सकते हैं जो बेरोजगारी और बढ़ेगा ये हॉल मार्ग में एक तो सबसे बड़ी तकनीक आने वाली है कि आपका ग्राहक का विश्वास टूटेगा दूसरी तकनीक आने वाली है कि तीस हजार रुपए रजिस्ट्रेशन का लगता है पहली बार जब आप जाओ एक कोटी भारत में टमाटर व्यापारी है सब अगर रजिस्ट्रेशन कराए तो बीस हजार कोटी रुपए तो उन्होंने दूर दिया एक साथ आगे की योजना क्या है उनकी अभी वो ये कह रहे हैं कि आप हॉलमार्क लो आपका ऑप्शन है आपकी मर्जी है लोग नहीं हो लेकिन रोज उनके यहां से कोई ना कोई आपको एजेंट आएगा या समझाने के लिए ले लो भाई ले लो भाई ले लो वैसे कहने की मर्जी तो बार बार को तो समझा रहा आपको देना होगा लेकिन को नहीं देंगे क्यों करने के लिए वो करेंगे आपको तो बोलेंगे तो है लेकिन बार बार उन्नीस सौ सत्तर में खेल मिला पेट्रोल आप याद करो पेट्रोल के भाव अपने नीचे से चढ़ाए थे दुनिया तारीफ कर रही और उसी तरह सोने के भाव चढ़ाकर ग्राम सोना बेचा और हजारों लाखों करोड़ों लाखों डॉलर उन्नीस सौ सत्तर के पहले उन्नीस सौ चालीस में अमेरिका के लिए उन्नीस सौ दस में अमेरिका के लिए अठारह सौ सत्तर में अमेरिका के लिए अठारह सौ चालीस में लेकर पिछले दो सौ साल से अमेरिका हर तीस साल में लेकर करता है क्योंकि उनकी हर तीस साल में नीचे आ जाता है जिसको रिसेशन कहते हैं रिसेशनल हो जाता है तो की कॉपी को ऊपर लाने के लिए अमेरिका अपने जिंदा रहने के लिए सारे देता है अभी वही समय अमेरिका का आ रहा है तो ईरान पर हमला भी इसी हिसाब से किया था ईरान पर भी तैयारी कर रही इसमें हम सबकी हालत खराब होगी ये परेशानी के साथ है चिंता करना और हॉलमार्क अभी वो कैसे ऑप्शनल है दो तीन साल के बाद तो कंपलसरी कर देंगे अभी तो उन्होंने कुछ कहना शुरू कर दिया है दो तीन साल के बाद कंपल्सरी कर देंगे एक बार पहले तक तो ये भी बोलते थे कंपल्सरी कर देंगे मैं कभी भी बोल रहा था कि आप थोड़े दिन के बाद इसको कंपल्सरी करोगे कभी जिंदा रह पाओगे नहीं तो आप चले जाओगे तो वो कंपल्सरी करेंगे तब आपके सामने परेशानी दूसरी आएगी कंपल्सरी कैसे होगा और पार्टी के लिए कानून बनेगा कानून से आपको बांधा जाएगा और कंपल्सरी हॉलमार्क हो जाएगा माने अगर कंपल दुकान पर और छापा मारे कि आपके पास अल्लाह है या नहीं दाखिले पर हलमार है कि नहीं और अगर नहीं मिला तो कहेंगे चलो कानून भंग किया उल्लंघन किया जेल चलो तो वो जेल में जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते लेकिन क्या आपको को जेल अंत में क्या होगा वो करेंगे आपसे सौदा और आपको है थोड़ा मन में डर जेल जाने से तो उसी में होगा सौदा और पुलिस वाला इंस्पेक्टर आके कहेगा लाओ दस हजार रुपए लाओ बीस हजार रुपए लाओ पचास हजार रुपए तो एक नया धंधा शुरू हो जाएगा जैसे गुप्त लोग करते वैसे पुलिस और ये पुलिस का इतना आगे तक जाएगा कि पहले तो वो आएंगे आपकी दुकान में फिर आएंगे तो कहीं फोन करेंगे पुलिस स्टेशन में बैठते कोई इंस्पेक्टर फोन करेगा आपका हम क्या तो आपको पैसा आने की जरूरत नहीं है हम भी पहुंचा देते हैं आपको तो दस हजार का पैकेट तीस हजार का पैकेट आप पहुंचा देंगे तो हफ्ता वसूली शुरू और हॉलमार्क के नाम पर होगी हफ्ता वसूली क्योंकि मैंने हिसाब लगा दिया कि ये जिंदगी में अगर मार्ग को तो संपन्न नहीं करते तो भी सबको नहीं दे पाते कारण उसका मैं बताऊंगा बताता मार्ग देने वाले जो ऑफिस में जिनके पास वो तो अभी वही है और एक करोड़ व्यापारी अगर लाइन लगा के खड़े हो जाए तो दो ऑफिस कितने व्यापारियों को मिल पाएंगे मैंने कैलकुलेशन किया कि एक ऑफिस सवेरे नौ दस बजे से शुरू हो शाम पांच बजे तक काम करे तो एक दिन में ज्यादा से पचास लाख परिवार कितने हैं करोड़ों लोग बेकार होते हैं जिसके लिए हमारे पास उसकी कोई व्यवस्था नहीं है वैसे ही जितनी बेरोजगारी इस देश में है बीस करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है अभी तो लोग ऐसे लोग और जोड़ से देश का काम था इसी चिंता में मैंने आपके बीच में और आपके व्यापारियों के बीच में जाना शुरू किया है कि आप उसको बचाने के लिए कुछ करो अपना भी व्यापार बचाओ और अपने सहयोगियों को बचाओ तो आप बोले कि हम करें क्या आप तीन काम करो और मैं आपको वायदा करता हूं कि ये तीन काम अगर आपने पूरी ईमानदारी के लिए तो ये समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाएगी ना हॉलमार्क देना पड़ेगा आपको और ना वायदा बाजार चल जाएगा ये दोनों घटक हो जाए और ये घटक कैसे हो जाएंगे सरकार जरूर कहते हैं हमने ओ की शर्त है ना उसके आधार पर लेकिन बदबूतियों में ही लिखा हुआ है any member can withdraw at any time from this agreement. माने कोई भी सरकार कभी भी डब्ल्यू एग्रीमेंट से बाहर आ सकती है कोई भी सरकार कभी भी इसको रद्द नहीं कर उसी में लिखा माने ये कोई ऐसा समझौता नहीं है जो परमानेंट चले और मैं आपको नाम लेकर बताता हूं दुनिया में आज से दस साल पहले एक सौ चौबीस देशों में यह सही किया उनमें से आज सबसे देश बाहर निकल उनको समझ में आ गया दस साल के लिए बहुत खराब और इससे उनके देशों बहुत छोटा सा देश है अमेरिका के बिल्कुल बाजू में है नीचे है अमेरिका में बहुत जरूरी दिया है सुबह को तुम इस एग्रीमेंट से बाहर मत जाओ सुबह का राष्ट्रपति बोलता है मेरे देश के लोग बोलते हैं कि इस एग्रीमेंट में नहीं रहेगा तुम्हें नहीं रहेगा तुम तुम्हारे देश का देखो मेरे देश अमेरिका ने कहा तुम पर हमला करेंगे तो उसने कहा करके देखो फिर हम भी तुमको बता देंगे कि हम क्या छोटा सा देश है मुश्किल से एक कोटि की लोकसंख्या है मुश्किल से एक कोटि की लोकसंख्या है और इस दादागिरी से अमेरिका को जवाब मिला और एक ही उसने सच में दिखा दिया कि अमेरिका कागज का शुरू है है क्यूबा ने अपनी आर्मी को अमेरिकन बॉर्डर में ट्रांसफर कर दिया अमेरिका पर ट्रांसफर किया अमेरिका को लगा कि अगर एक युवा खड़ा होता है तो उसके आदिवासी के देश के खड़े होते हैं तो क्योंकि वो सब अमेरिका से कर और वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है महाराज राष्ट्रपति ना विवेक राष्ट्र वो इतना लोकप्रिय है कि अट्ठाईस साल से बराबर चुनकर आता अकेला खड़ा होता कोई उसके विपक्ष में नहीं आता अट्ठाईस साल से बराबर चुनकर आता है और यहाँ को सरे और धर्म देता है कि तुम्हारी हिम्मत करके देखो हम धमकी जो नहीं मानते तुम्हारी तुम्हारे देश के लिए तो हम हमारे देश निकल गया युवा रतन दिवस और उनके सारे के सारे शर्त हॉल मार्ग के वायदा बता के शेयर प्रदान के सब खड़ा करके और जो देश बहुत अच्छा है दस साल से प्रगति कर रहा है बहुत आगे आपको इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा तो उस प्रयास क्या करना है आप सबसे पहले एक फैसला करो कि कोलहापुर सराफा एसोसिएशन का कोई भी कारीगर या व्यापारी हॉलमार्क नहीं है क्योंकि देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बता दुश्मन से लड़ना है तो उसका बहिष्कार सबसे पहले असहयोग सबसे पहले दुश्मन को अपने घर में बुलाओगे फिर आप उससे लड़ने जाओगे हमारे हिंदुस्तान की कहानी ही ये दर्द है हमारे राजाओं ने अगर अंग्रेजों को अतिथि बना के नहीं बुलाया होता तो ये देश ढाई सौ साल गुलाम नहीं होता हमने ये गलती कर दी है भूतकाल में भविष्य में करने की जरूरत नहीं माने हौसला नहीं देना ये एक संकट में तो फिर क्या करना पड़ता वो सोचा जब आप हॉलमार्क नहीं होते तो जो देने के लिए घूम रहे हैं इनकी हालत होती खराब क्योंकि हमने सब कॉन्ट्रैक्ट भी किया होगा ये जो तो है ना आते हैं ये सब सब कॉन्ट्रैक्टर है ये असली कॉन्ट्रैक्टर नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के नीचे के एजेंट असली कॉन्ट्रैक्टर तो में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा में किया होगा दिल्ली में किया होगा तो ये हैं इन्होंने वहां जमा करा क्योंकि जिन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट किया है ना वो चालाक लोग वो कहते हैं तो पांच पाते हो और बांट नहीं बांट पाते हो उसको रखते थे हमको नहीं होते तो इन्होंने बहुत पैसा भर के सब कॉन्ट्रेक्ट किए इनको वो तो पैसा निकालने का है इसलिए रोज आते आपके दिमाग में से भाई सोसाइटी में ले लो भाई ले लो भाई ले लो भाई और आपने अगर लेना बंद कर दिया तो फिर से सरकार के पास जाएंगे कहेंगे कंपल्सरी कर दो तो सरकार भी कानून बनाएगी कानून बनाएगी तब उसके बाद हम लोग भी इसमें आएंगे उतरेंगे क्योंकि कानून बनेगा तो संसद नहीं बनेगा और संसद में हम ऐसा हल्ला कर रहे हैं ये कानून के विरोध है कि ये पास ही ना फिर सरकार क्या करेगी कानून पास नहीं हुआ अगर संसद में क्योंकि मैंने अभी से भारत के बहुत सारे कानूनों को इस बात से समझाना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे कल्पना है कि तीन साल के बाद कानून आ सकता तो ढाई सौ से ज्यादा आधारों को मैंने समझा दिया कि देखो इसका खतरा क्या है और दागे के काम काम करने वाले जो कारीगर है ना सबसे ज्यादा बंगाल में दूसरा नंबर उनके इतिहास में उनको समझा गया उनको समझ में आया और उन्होंने कहा उनकी अदालत में सवाल पूछेगी आपको क्या लेना देना इस तस्वीर आपकी कोई दुकान है क्या कोई बंद है क्या कोई कंपनी बेचना कोई दुकान है कोई तो मैं ज्यादातर तो उस समय आपका सराबा एसोसिएशन तो के नाम से लेके पिटीशन हम बनाएंगे ग्राम के नाम करेंगे नाम तो आपका रहेगा क्योंकि कोर्ट का केस लेता है वो दिखाता है कि आप दो किसी तरह के केस लेके चले जाते हर जब से केस चाहिए है कोर्ट में सब तो कहते हैं अपने लेके आए अभी थोड़े दिन पहले हम दो हजार का एक केस लेके गए थे दो जो हमने जीत किया उसमें सभी बहुत सारे हुए क्योंकि न्यायाधीशों को हफ्ता बना रहता है सरकारियों की तरफ आपको अपनी एकता बना के रखनी और ध्यान इस बात का रखना है कि एक दिन आपका व्यापारिक विभीषण न बने एक दिन भी हमला होता है तो एकता बहुत जरूरी है यदि विदेशी आकर बोलते हैं तो पहले आपकी एकता को यही बात मैंने जनताओं में थोड़े दिन पहले कही कि जलगांव बराबर एसोसिएशन के संकल्प करें कि हम में से कोई बहुमान मिलेगा नहीं जब दो हजार आठ में परिवर्तन होगा उसके लिए हम लड़ेंगे और उसको रोकने के सुप्रीम कोर्ट का और उसको कंपल्सरी होने के लिए क्योंकि इसमें संविधान हमारे वालों को बताएंगे विरल के अंदर होती है सांकली को बताएंगे सांकली के अंदर होता है सतार को बताना है सभी सराफा एसोसिएशन को यह संदेश पहुंचाना है कि हम आपस में मिलकर एक दूसरे के भरोसे में बढ़ेंगे और बहुत लेंगे ये एक दूसरा काम क्या रोज टीवी में हम जाहिरा बनाएगा आप देखें रोज और वो जाहिरा करेंगे एक जाहिरा आएगा और उसके लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करेगी और ये हॉलमार्क हमें खर्च उसमें यह बताया जाएगा कि जो हॉल नहीं है वो खराब आमीना तो नहीं है ऐसा बताया रोज उसको बताया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि जिसके पास पहले तो चीकर नहीं है वो चीकर है आपको ये दो बातों को खुलासा करने की आवश्यकता पड़ेगी इसके लिए मेरा निवेदन है कि आप एक माहिली पत्रक बनाए सराहा एसोसिएशन की तरफ और उस माहिली पत्रक में ये देना कि ये वास्तव में और होता है उनको मालूम नहीं है ग्राहक जो है ना वो झगड़ा करेगा तो हाजिर होगा वो रोज टीवी में देखेगा कि हॉलमार्क जिसको लगा है वो अच्छी है जिसको हॉलमार्क है वो खराब है रोज जाएगा जाएगा और रोज संडे को भी आ जाती है ना टीवी पे सरकार ने कोई धारा धारावाहिक बनाया है कोई सीरियल बनाया है जिसमें एक गलती है वो रोज यही बताती है कि आपका जो अधिकार कंज्यूमर का वो कंज्यूमर अधिकार से ज्यादा व्यापारियों को हिट करने का धंधा है चोट देखा को तो साबित करने का धंधा तो टीवी जाहिरात होगा सिनेमा में जाहिरात आएगा अखबार में जाहिरात आएगा वो जाहिरात पढ़ के ग्राहक आपके पास आएगा और वो पूछेगा ये चक्कर क्या है तो आप तैयार रखो ये माहिती पत्र मराठी में गुजराती में हिंदी में तमिल में तेलुगु में कन्नड़ में मलयालम में जिस भाषा को ग्राहक समझता है और उसको ले लो पढ़कर कि भाई इसको पढ़ो ये ये चक्कर क्या है तो ये अब लेना जाएगी हमारा जो यहाँ का स्थानीय चक्कर है वो आपको दे देगा लगे तो कॉपी राइटिंग है सबको कॉपी करने का है तो आप उस पत्रिका को लेकर एक पत्रक बनाकर आपको हमारे पुणे में एक संयोजक है शंकर प्रदेश उनके पास वो पत्रिका अपनी सौ डेढ़ सौ की संख्या में वो आप हमारा को अगर यहाँ नहीं मिले संजय प्रदेश का फोन नंबर मैं आपको दे दूंगा तो आप वहां से बनाकर उसको हमने तो वो बनाए हैं हिंदी लेकिन आप मराठी गुजराती कन्नड़ तमिल तेलुगु दूसरी भाषा में करके ग्राहकों के लिए उसको रखें एक दूसरा एक काम और करने का है अभी आपने जो सभा किया था ना ये आपकी है सराफा ब्राह्मण आप ऐसी एक सभा रखो ग्राहकों उनको मैं समझा आपके अभी के कुछ ना कुछ ग्राहक को तो फिक्स है आप सभी व्यापारियों के सौ दो सौ पांच सौ ग्राहक को उनके फिक्स है एक बार उसको जाहिर खत्म कर दे दूंगा और मैंने तो कोल्हापुर के किसी मैदान में ये विषय मैं उनको समझाऊंगा और अगर वो समझ रहे तो वो आपके साथ रहेगी फिर सरकार आपका कुछ नहीं बिगा ग्राहक और व्यापारी ये दोनों अगर एक हैं तो दुनिया की थोड़ी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगा सरकार भी उनके साथ जाए और हॉलमार्क वाले भी सरकार के साथ मिल जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगा जब ग्राहक कहेगा कि मुझे चाहिए हॉलमार्क तो सरकार को नहीं और ग्राहक भी कह देगा अगर उसको ठीक से समझा क्योंकि इसमें ग्राहक का कोई हित नहीं है कोई भला उसको एक तो खर्चा ज्यादा लगेगा क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो तो ग्राहक का ही ट्रांसफर होगा उसको खर्चा ज्यादा लगेगा और उसका आपके प्रति जो विश्वास है वो टूटेगा आपका उस तभी आप उनकी एक सभा बता दो पंद्रह सौ दो हजार पांच हजार दस हजार जितने भी ग्राहक इकट्ठे होते हो उनको मैं सरल भाषा में ये समझाऊंगा और इस पर मैंने एक फिल्म बनाई सीडी फिल्म बनाई वो तो उनको देखा और पूरा डेटे यूरोप और अमेरिका में ये क्यों आया क्यों लाया गया हमारे देश में क्या आवश्यकता है या नहीं आगे परिस्थिति क्या है ये खरीदने वाला है लेकिन पास मुझे नहीं चाहिए तुम करो जबरदस्ती शहर वाले तो सरकार की तरफ से जो अभियान चल रहा है ये तो हम काउंटर कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं सरकार में ताकत नहीं बहुत कमजोर है इतनी कमजोर सरकार है कि जरा भी कोई धमकी आती है तुरंत सामने से सरेंडर करते और ये अच्छा होता है हमारे पहले सरकारें इतनी कमजोर नहीं होती अभी बहुत कमजोर क्योंकि हर समय अभी जो सरकार चल रही है उसमें तेईस पक्ष है जो सपोर्ट कर रहे हैं एक पक्ष भी निकल आए बाहर नाराज है तो जब जिस मन उन्होंने आकार सरकार को घुमाना है और जिस सरकार में कई राजनीतिक पक्ष रहते हैं जिनको हौसला नहीं होना वही अच्छा है ये उनका ओपिनियन बन गया है तो ये सरकार को डर है गिरने का और गिरने का डर जब तक सरकार को है तब तक लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो खुद में महसूस तो हाथ लेके जाओ और उसकी कॉपी बनाओ हजार दो हजार पांच हजार मेरा कोई कॉपी राइट नहीं मैंने आपसे सबको कॉपी करने का राइट है उसकी कैसे कॉपी कॉपी करके आप अपने ग्राहकों को देना शुरू कर दो ग्राहकों के साथ आपके दूसरे व्यापारियों को देना शुरू कर दो सामने के सराफा व्यापारियों को दे दो मेरठ के सराफा व्यापारियों को दे दो कम से कम इतना करो कि दो चार महीने में पूरे महाराष्ट्र में वो जाए ये जब फैल आएंगे तो फिर आप एक ऐसी तैयारी करो कि पूरे महाराष्ट्र का जो सराफा एसोसिएशन है उसकी एक सभा बुलाओ और उसमें ये नक्की करो तय करो कि कोई महाराष्ट्र का व्यापारी भवनाश नहीं है पहले तय करो कोल्हापुर का नहीं होगा फिर तय करो नीरज का नहीं करेगा जलगांव का नहीं करेगा एक एक शहर का फिर मिलकर सबसे महाराष्ट्र का फिर थोड़ी आगे और फिर पूरे गुजरात का तो सभी राज्यों से अगर ये होने लगा सरकार से कोई कमी वो तो दो मिनट में कहेगी भाई तुम नहीं देते तो छोड़ो हमारे डिपार्टमेंट कब खत्म जैसे शुरू शुरू में आईएसओ का चक्कर चला था नए नए लोगों ने बहुत ले लिया अब उनको जब खेल समझ में आया हमको तो ये लेना तो आईएसओ वाले तो भाई वाले खेलते हैं काम काम घूमते हैं मुझे बहुत लेते हैं तब भी मैंने सबको ये समझाया था कि ये लोगे तो आप ही को नुकसान होने वाला है जो देने वाले हैं उनको धंधा करने के लिए बैठे आप समझ करेंगे तो शायद हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है मुश्किल बस एक ही जगह है आपकी एकता नहीं टूटनी चाहिए आपके आपस के संबंध नहीं बिगड़ने चाहिए हमने सामूहिक रूप से संकल्प किया वो सबको दिखाना और दूसरी एक मैं गौर कर दूं कि मैं तो आया आपको तो समझा के गया बहुत लोग आएंगे आपके बीच और हमारे पेशे वाले भी आएंगे और ये बड़े बड़े धंधे में लगे हुए लोग भी आएंगे वो आपको समझाएंगे तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए कोई करोड़पति आकर आपके सामने बात कर रहा है तो वो बहुत सच होगी ये नहीं आपकी आत्मा क्या कह रही है अंतर आत्मा क्या कह मेरी अंतर आत्मा ये कहती है कि हजारों साल की परंपरा से जो विश्वास बना है आपका तो जाना रखा अगर और हमारे इसमें घुसा तो ये घुसता है ये सबसे बड़ा नुकसान और हजार रुपए का ले लिया तीन हजार रुपए तो बड़ी रकम नहीं है लेकिन उसके लेते ही जो विश्वास टूटेगा मैंने बताया ग्राहक कहेगा अच्छा अभी तक आपको बिना हॉलमार्क का दिया इसका मतलब घटिया था रहा अब हॉलमार्क वाला ज्यादा अच्छा है जबकि ये ज्यादा कमी जिसमें हो सकती है वो आपकी जानकारी जमीन रखता तो ये विश्वास कर्म सब निकल जाएगा हमें वो विश्वास बचाना ये मेरी आपसे विनती और यही मेरी आपसे गुजारिश है साधना है कि आप संदेश को तेजी से जितना पैदा करने फैलाइए मैंने सबसे पहली सभा इस विषय पर नागपुर में की थी आज मुझे खुशी है कि नागपुर से होकर जलगांव में हुई जलगांव के बाद हमको उदाहरण हुई सब को सांकली में होगी औरंगाबाद में होगी धीरे धीरे सब महाराष्ट्र में संदेशा पहुंचेगा बाद में गुजरात में और दूसरे राज्यों में और साल भर में हम एक माहौल पूरे देश में बना देंगे कि बहुत सारे सलाह जापानी की परिवर्तन कहते हैं हमें नहीं चाहिए और सरकार को क्योंकि जनता की अगर सहयोग नहीं है सरकार कुछ नहीं और ये बात महात्मा गांधी हमको सिखा कर गए कि जब सरकार बहुत अत्याचार करने लगे तो करो और बहिष्कार करो दो मिनट में सरेंडर कर देते और गांधी जी ने तीन सौ हथियारों से अंग्रेजों को सरेंडर करा दिया तो ये लोग नहीं है जो आगे अंग्रेजों की ताकत को पचास देशों में राज्य चलता था गांधी जी ने उनको भी सरेंडर कर मनमोहन सिंह का राष्ट्र पचास देशों तो में नहीं चलता है भारत में भी ठीक से नहीं चल पाता है तो ये तो दूसरे इनमें कम नहीं है आपकी एकता अगर बड़ी है ग्राहकों का आपसे जुड़ाव है तो ये बिल्कुल आसान और तीसरा आखिरी काम ये करो आज से आपके ग्राहकों को बोलो कि देखो भाई एक पचास पैसे का पुरस्कार दे पचास पैसे का एक पुरस्कार दे किसको उपभोक्ता बाजों के मंत्री उसमें ग्राहक के लिए आपको के लिए ग्राहक के लिए कि हम तो बिना पूछे आपको इसे हॉल मार्क कैसे लाए ये तो ग्राहक की परमिशन से आने सरकार को सरकार तो मैनेजर है मालिक को तो हमें हम वोट देते हैं वोट भी देते हैं टैक्स भी देते हैं वोट भी देते हैं मालिक को तो हम है हमने तो नहीं कहा आपसे कि हॉल मार्क किसी ग्राहक ने कहा मैं ग्राहक हूं मैंने आज तक नहीं कहा कि आप हमें हॉल चाहिए मेरी आई ग्राहक है उसने आज तक नहीं कहा भगवान से हमारे देश के करोड़ों ग्राहक हैं जिन्होंने कभी नहीं कहा मुझे याद नहीं है कि कभी किसी गांव में रैली हुई हो मुंबई में दिल्ली में ग्राहकों की तरफ से कि हॉलमार्क होना ही चाहिए ऐसा हमने तो नहीं कहा कुछ उपभोक्ता संगठनों ने जरूर कहा लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी मैंने उनसे पूछा तो कहते हम तो चलाते विदेशी पैसे से अपना कर रहे तो वहां से इंस्पेक्शन आता हम भी कोई हमको आई नहीं एक उपभोक्ता संगठन को मैंने पूछा तुमने कैरेटोमीटर देखा है तुमको मालूम है वो सिद्धांत क्या है जिसके आधार पर ये काम करता है जिंदगी में कभी कैरेटोमीटर तो नहीं देखा लेकिन अभियान चला दिया कैरोमीटर लाओ कैरोमीटर लगाओ मैंने कहा भाई कैरोमीटर में तो ज्यादा चीटिंग होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जब का निर्माण करके खराब नहीं होता शरीर का नहीं होता एक छोटे से हिस्से को ही चेक कर सकता है वो शायद पॉइंट फाइव मिनट का हिस्सा भी नहीं होगा क्योंकि उसकी जो भीम है वो जान जा नहीं सकती है भीम तो सेक्रोलाइज होती है एकदम छोटे से हिस्से पर होती है तो सपोज करो कि जिस हिस्से पर भीम डाली वो खड़ा है बाकी छोटा है कोई पता ही नहीं चलता अभिभावकों को अगर ये समझाना शुरू कर दें तो उनकी समझ में बहुत आसानी से आ जाए और मैं आपसे कहता हूं कि हाथ से छूकर और आंख से देखकर जितना अच्छा परीक्षण होता है वो कोई मशीन नहीं है हाथ से छूकर और आंख से देखकर क्योंकि ईश्वर ने हमको जो पंचेंद्रियां दी है उनमें से स्पर्श और दृश्य सबसे प्रभावकारी है तो हमको हाथ से छूकर से देखकर बता से सोना कितना कमाया कितना होता है मशीन को कभी मिलता नहीं पता दिल्ली में अभी एक दुकान में मैं गया था बहुत बड़ी दुकान है कौन सा जिनका रोज चीज में जाहिर आता था चीज कौन सा ज्वेलर है बिजली ज्वेलर इनकी दुकान पर मैं गया था संयोग से कह रहे क्या खराब हो संयोग से खराब हो कुछ का कुछ भी नहीं आ रहा मेरे का भाई इसको खरीद को नहीं तो आपका भी दिमाग खराब होगा ग्राहक का भी क्योंकि ये जो रीडिंग दे रहा है वो वास्तविक नहीं है और इसके खराब होने के चांस कितने ज्यादा है थोड़ा बारिश जाती है और ह्यूमिडिटी बड़ी मौसम तो उसी समय के खराब ह्यूमिडिटी मान सकते मौसम में थोड़ा नमी बढ़ गई नमी ये टेरर यूरोप में आया अमेरिका में आया क्योंकि यहां के मौसम में नमी नहीं है सुखाई ही जहां नमी बहुत है मौसम में बाढ़ में खराब हो जाता है बारिश से चार महीने में बिल्कुल सही बात कहेगा भरोसा नहीं और कैरेक्टर बनाने वाली कंपनियां खुद कहती है कि हमारी लिमिटेशन हर मशीन की एक लिमिटेशन होती है उनकी अपनी लिमिटेशन है वो एक पॉइंट को चेक कर सकता है पूरे दादाजी को कमी चाहिए तो ये ग्राहक को अगर आपने बता दिया कि भैया ये तो इतना बड़ा दागी एक ही पॉइंट को ये चेक कर रहा है जरूरी नहीं है कि पूरा राशि का पैसा ही हो इससे अच्छा मेरी बात को भरोसा करो तो मन नहीं क्योंकि अब तक तो बिना क्रेडिट तो मीटर के ही खरीदता आया है ये तो सरकार ने फालतू का लगा दिया हमारे पीछे कि क्रेडिट मीटर लाओ स्टैंडर्ड बढ़ता है ये नहीं जाओ स्टैंडर्ड उससे नहीं बढ़ता है चीटिंग बढ़ती है और यूरोप में बहुत चीटिंग इसी क्रेडिट मीटर से होती है और अमेरिका में तो सबसे ज्यादा चीटिंग इसी से होती है आपस में कोई भी मतभेद ना हो जाए मतभेद हो जाए तो उसको समझाने समझाने की कोशिश करें मतभेद ना हो और कोई चुपचाप जाकर और मार्ग न लेके आया ले आया तो उसको सामाजिक बहिष्कार करके तुरंत बता दो दूसरे का भी नहीं होगा और तीसरा ग्राहक को थोड़ा समझाना शुरू कर दो और बाकी काम ऊपर के स्तर पर केस करने का सुप्रीम कोर्ट में जाने का पार्लियामेंट में बिल को रुकवाने का खासदारों को महीने मिलेगा वो सब हम और हमारी संस्था करने ही वाले हैं और हमने तो ये संकट पहले से लिया भी हुआ है हमारी तो लड़ाई हर विदेशी कंपनी के खिलाफ है चाहे वो हॉलमार्क लेके आए या भारत में कोई परदेशी कंपनी कदम रखे किसी को तो हमको अपनी लड़ाई लड़ने वाले हैं आप नीचे से हम ऊपर से दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोग लड़े तो जरूर इससे हम सफल हो जाएंगे असफल होने की कोई बात नहीं है और ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ जब हमने सरकार को झुकाया है सरेंडर कराया है अभी गोरक्षा रक्षा के समारोह में आपको बताता हूँ अट्ठावन साल से सरकार गाड़ी की हत्या करा है सरकार अट्ठावन साल आजादी जब से मिली उसके पहले अंग्रेज सरकार गाड़ी की हत्या कराई आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जितने कतल खाने भारत में चलते हैं उन कतल खानों में सबसे पैसा पैसे लगाते हैं कोई व्यक्ति कतल खाना खोलना चाहे सरकार उसको कॉन्क्रीट सब्सिडी दे सौ टका सब्सिडी अगर आप सोलापुर में कतल खाना खोले तो जितने रुपए का कतल खाना बनेगा उतना उतना रुपया सरकार आपको देगी आपका कतल खाना खोलना और आप सोलापुर में गौशाला खोलो तो सरकार इतनी हराम हो रही है पैसा नहीं मिलेगा गाय पालना ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में कही पिछले सात साल से केस चालू था तीन संस्थाओं की तरफ से हमने केस किया था कि सरकार करवा रही है गाय का कसर कसाई तो कर रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिल रहा सरकार दे रही है सब्सिडी तो सरकार की सब्सिडी के प्रश्न पर जब केस खुला और उनके सारे कार्य हमने ध्वस्त किए तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि भारत में एक भी कार्य नहीं सकती है और अगर कहीं तो सरकार की जवाब अब सरकार दौड़ना ही नहीं क्योंकि जिस जजमेंट को कानून बना के लागू करने में उनको तकलीफ आ रही है तकलीफ क्या रही है बहुत पुरानी है जिन्होंने दो हजार से पैसा बनाया है और बता रहे हैं मीट एक्सपोर्ट कर उसमें पैसा बना रहे हैं तो बहुत पुरानी है उनके कसर खाने चल रहे और उनका धंधा बंद होने का बहुत है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको आदेश दिया कि छह महीने के अंदर कानून नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़ेगा हर राज्य में तो हमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहना शुरू किया कि हम तो जल्दी से बनाएंगे राष्ट्रपति का सहयोग कराएंगे कर्नाटक में भी होगा मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप में ईमानदारी है संकल्प है सच्चाई के साथ है तो कोई भी सरकार आपके सामने अट्ठावन साल में जो गाय हत्या चल रही थी सरकार जिसमें लगी हुई थी आपको बंद हो जाएगी थोड़े दिनों में गाय है नहीं गाय वंश का कोई प्राणी अगर कटा तो पुलिस ऑफिसर से लेकर मुख्यमंत्री किसी की ऑर्डर में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ कि जिस पुलिस स्टेशन के सामने से गाड़ी गुजर गई उसके ऑफिसर की जिम्मेदारी में जान तो ये हुआ है इसलिए निराश होने की कोई बात नहीं कभी भी आप निराश मत करिए कभी भी ये मत सोचिए कि होगा कि नहीं होगा आप ईमानदारी से संकल्प के साथ एकता बनाकर चलते चले जाइए हर काम तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करने आया कि आप अपने बीच में पहले एकजुट बनिए संकल्प ले लीजिए कि हम जब तक सब मिलकर पहले करेंगे कोई और मार नहीं लेगा और ये माहिती धीरे धीरे दूसरे गाँव में चलाना शुरू करके मैंने इसके लिए जो कैसे बनाने वो आप ले जाएंगे मेरे स्वास्थ्य में है उनको बांटिए कॉपी करिए हजारों की संख्या में लोगों को दीजिए और वो एक पत्रक चाहिए जो आपसे कहा बनाने के लिए वो पत्रक हमने बनाया हमारे सुनने का है आप उसे बता दीजिए पूना ऑफिस में पड़ा हुआ है संजय प्रदोषी को फोन कर दीजिए वो भेज देंगे और आप फिर उसकी री कॉपी करेंगे रीप्रिंट करिए हजारों लाखों की संख्या में छापिए और बांटना शुरू कर दीजिए थोड़े दिन में ग्राहकों को जब मुझे समझ आ गया तो ग्राहकों की एक सभा बुलाइए फिर उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा तो आप व्यापारी और ग्राहक के एकजुट हो गए तो फिर ये लड़ाई आगे बढ़ेंगे और शायद हम उसमें ये मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है और एक छोटी सी चलते चलते बात करके आपके कुछ प्रश्नों तो को उसका उत्तर जरूर दूंगा कि आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा काम करें तो उसके लिए एक छोटा काम और करें कि आपका मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे ये बहुत आवश्यक है कोई भी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए मन बुद्धि और शरीर तीनों स्वस्थ रहे बहुत क्योंकि बुद्धि से मदद मिलती है सोचने में मन संकल्प कराता है और सचिव उसको हमारे भारत में एक पुरानी कहावत है चाहे किसी की कमी नहीं कोई भी बड़ा काम करने के लिए निकलो तो पहले स्वयं स्वस्थ बनो एक काम आसान नहीं तो क्या होता है कि इस तरह के काम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मेंटल टॉर्चर हो मेंटल अवसर और वो करने वाले बैठे हुए और ये मेंटल टॉर्चर में कोई टूट जाता है तो वहीं से काम खराब हो सकती है तो आप मेंटली साउंड रहे मानसिक रूप से आप में शक्ति रहे और शरीर में भी थोड़ा रेजिस्टेंस रहे इसके लिए मेरी एक छोटी सी बात है जो आप स्वीकार कर सकते हो आप अपने रोटी को थोड़ा व्यवस्थित करिए खान पान को थोड़ा व्यवस्थित करिए ताकि बड़ा काम करने की शक्ति आपको मिले थोड़े दिन में क्या होगा कि जब आप अपनी ताकत से घर जाएंगे तो हर बार पदन में बैठे थे तो कंपनी मन आप करोड़ों रुपये भर रहे ये जो दुभाषियों को रिश्वत देते हैं वो समय आपको और ज्यादा शक्ति की जरूरत होगी तो आप अभी से थोड़ा अपने अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो ये आपका में आ जाएगा शरीर बहुत सुरक्षित रहे रेजिस्टेंस वाला रहे और मन में शक्ति बहुत रहे मजबूत रहे इसके लिए चार उपाय है सबसे पहला कि आप भोजन के बाद पानी पीना बंद करें एक घंटे के बाद पानी भोजन के बाद कुछ पीना पड़े तो ताक पियो दूध पियो जूस पियो पानी एक ताक के बाद क्योंकि शरीर का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा तब आता है जब आपका खाया हुआ भोजन पूरा पच जाता है जो कुछ खाया है उसका पाचन और भोजन के पाचन होने में सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो पानी है क्योंकि भोजन को पाचन होने के लिए पेट में गर्मी लगती है जिसको जठराग्नि कहते हैं और पानी अगर पिया तो वो अग्नि शांत होती है तो फिर कक्षा नहीं तो आयुर्वेद का सरल सूत्र है कि शरीर को तंदुरुस्त रखना और मन को ऊर्जावान बनाना तो इसके लिए भोजन के बाद पानी नहीं एक साथ के बाद ये नियम आप धारण करो तो आपकी पचास टका बीमारियां तो दूर हो जाएंगी मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ दूसरा एक नियम है कि पानी कभी भी ठंडा नहीं पीजिए हमेशा कोमल ठंडा रुकना चाहिए कभी भी पीना तो कोमल ठंडा रुकना जितना गर्म चाहिए उतना गर्म पानी ठंडा कभी भी पीना रजिस्टर बहुत कम होता है ठंडा पानी और घटा पानी होने से तो दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ होती है पक्षियत कोष्ठबद्धता पॉसिबिलिटी और उसमें से दूसरी बहुत सारी बीमारियों में चल तो ठंडा पानी का बनना चाहिए हल्का ऊपर गर्म पानी फ्रिज का पानी की तरफ का पानी तीसरा नियम पानी कभी भी एक साथ नहीं देना थोड़ा थोड़ा तो सिर्फ करके पीना बहुत दूर कर देता एक बार पहले से पिया फिर थोड़ी देर बाद दूसरा तीसरा एक गिलास पानी पीने में पंद्रह मिनट लगा एक साथ एक मिनट में रजिस्टर तो सबसे कम इसी से होता है लगातार लगातार तो पानी भूत पीना हल्का कोमल पीना भोजन की बाद नहीं पीना और सवेरे उठकर सबसे पहले पानी तो ये चार नियम का पालन आप करेंगे तो बाद में फिर आप तीनों आपके संतुलित रहेंगे और इस तीन के संतुलन से ही रजिस्टेंस आता है प्रतिकार शक्ति आती है और मन बुद्धि शरीर तीनों एक साथ एक लय में काम आप यह मेहंदी दाना तो रजिस्टर को बहुत बढ़ मेहंदी दाना छोटा छोटा पीले करना होता है उसको रात को पानी में डाले सबसे उस पानी को पी तो ये मेहंदी दाने से रजिस्टर बहुत अच्छा रहता है और खून को बराबर साफ करती रहती है अगर आपका खून स्वच्छ है पवित्र है तंदुरुस्त है तो कोई बीमारी नहीं सकता और थोड़ी शरीर में कहीं कोई कमजोरी होगी तो ये मेहंदी दाना बिल्कुल ठीक है जैसे डायबिटीज है तो सबसे कमजोर शरीर डायबिटीज आदमी का होता है मन भी कमजोर होगा शरीर भी कमजोर आप में से किसी को भी डायबिटीज है तो हाथ से पानी में डालो सबसे पानी और इस मैगी डालने से घोटे का दर्द जाएगा कमर का दर्द जाएगा डायबिटीज चली जाएगी मन बुद्धि चली तीनों तंदुरुस्त बनेंगे और अंत में ये मैगी दाना आपको वज्र जैसा बना देगा शरीर एकदम इतना कठोर हो जाएगा कि आसानी से बात नहीं आता ऐसी ही एक बहुत अच्छी औषधि है हमारे स्वयं पास घर में दालचीनी दालचीनी का पाउडर शहद के साथ या गर्म पानी के साथ लेंगे तो भी शरीर से आसानी से रोक जाएंगे शरीर दुरुस्त हमारे घर में ऐसी एक बहुत अच्छी औषधि है हल्दी स्वयं पाक घर हल्दी नियमित रूप से आप प्रयोग करो थोड़ा दूध में डालकर लेते रहो बहुत सारी बीमारियां कमी आती है और ऐसे ही हमारे सरकार घर में बहुत अच्छी औषधि है जीरा पेट की कोई शक्ति नहीं होता जीरे का पानी नहीं हमारे सरकार घर में एक सौ अड़तालीस औषधि है उन पर बराबर नजर रखो कभी भी तकलीफ हो जाए तो उनका इस्तेमाल करो क्योंकि डॉक्टर के हाथ में आपको दवा आपको ये सब रजिस्टर को कम करने वाले हैं एलोपैथी में एक भी औषधि नहीं है वो तो एलोपैथी वाले कुछ कहते हैं हमारे पास जहर है वो तो खुद कहते हैं और आप एक बीमारी से दूसरी बीमारी में घूमते रहे कभी संपूर्ण स्वस्थ नहीं रहते संपूर्ण स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद में ही संभव और आयुर्वेद का सबसे अच्छा हमारा रसोई घर में स्वच्छता घर में तेल है उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें और अंत में बन सके तो अगर शरीर को अच्छे से ताकतवर मन बुद्धि संकल्प के साथ चले गोमूत्र तो थोड़ा भी देसी कार्यक्रम बहुत तंदुरुस्त बनाता है मैं छह साल से हजारों लोगों ने इसका प्रयोग किया अद्भुत शक्ति आती मरे हुए की स्थिति में पड़े हुए पेशेंट चलना शुरू करके आप से तो दो मिनट ऐसा करें तो 25 तीस मिलीमीटर दो मिनट सवेरे करने से आप ले सकते हैं खाने को बीमारी है तो जरूर लो नहीं है तो भी ले बीमारी कुछ भी हो नाम उसका कुछ भी हो वो सभी गोमुत्र से कैपेसिटी रखते हैं वो उसमें सत्रह औषधियाँ हैं और वो पूरे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए काफी है तो ये थोड़ा आपको तो लेकिन सावधानी से यही है कि जो गाय का दूध लेना वो देशी गाय है जैसे विदेशी है क्योंकि तो विदेशी गाय का दूध कुछ काम कर रही दूध भी उसका काम कर रही दूध भी काम देशी गाय का भी दूध काम का है विदेशी गाय का दूध लेने उल्टा परिणाम होता है रोग जाते हो जाता है देशी गाय का भी काम का नहीं जाता पिता जी टिकाली साहिबाल साहिवाल जी देवरी अमृत महल जो भी हमारे इलाके में गाँव में है उसका ही आप लोगों ने शिक्षा कितनी है तो गौशाला में बना दो सब लोग मिलकर एक छोटा सा फंड इकट्ठा करो गौशाला बता दो दूध भी मिलेगा और उसका शेड मिलेगा तो शेड गरीबों उनको दे देगा उनको भी लाभ हो जाएगा यूरिया डी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाय के शेड से ही अच्छी खेती हो जाएगी तो समाज का भी कभी किसान को गाय का ही पीना भैंस का ही कभी क्योंकि भैंस का दूध पीने से आपने शक्ति ही नहीं रहेगी हमारे देश के लोगों ने बीस पच्चीस साल से भैंस का दूध पीना शुरू किया तो ये हमारे जहां देखो वहां गिरावट गिरावट गिरावट गिरावट कारण इसका क्या भैंस का दूध तामसिक और वो तामस वाला दूध पी के सबकी बुद्धि भी कैसी हो जैसी भैंस है वैसे भैंस जैसी बुद्धि सबकी हो इसलिए आपकी गलती में विपत्ति और भैंस को देख लो ना समझ में आ जाएगा कहीं घड़ी हो जाए रखती नहीं अपने डंडा भागना पड़ता है तो हटती है तो- सामने से कट आ जाए पीछे से बस आ रहा हॉर्न की बजाय जो भी नहीं है क्योंकि अकल नहीं है उसको बुद्धि नहीं है भैंस कभी भी टीचर को जाके बैठेगी गुस्से को तो में भी नहीं है और इतनी मूर्ख होती है कभी अपने बच्चे को पहचानती नहीं एक भैंस का बच्चा दूसरे के साथ चला जाता है दूसरे का पहले के साथ चला बैठ बच्चा बनता है उसको दूसरा बच्चे खड़ा खाना खाते हो तो दूध दे देती है हमारी बेटी हमारी जाती है तो ऐसी भेंट का मत पियो और आप राम के पास जाए बलराम के पास जाए मैं सिर्फ यमराज में पानी है सोचो तो और मुझे बड़ा खुश होता है ये आगे आपको शरीर से काम आएगा और भारत की आने वाली जनरेशन के लिए काम और मैं इस विषय में आपके कोई भी प्रश्न हो उसका उत्तर देने के लिए अभी तैयार हूँ आप चाहे तो कोई भी प्रश्न कर सकते हैं जिसका उत्तर मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा अब ईमेल पर काम कर रहा हूँ कंप्यूटर से तो ईमेल एड्रेस कभी भी प्रश्न का ये सेशन है हमेशा मैं आपके उत्तर के लिए तैयार करूँ मेरा फोन नंबर है नौ चार nine double four eight double one nine नौ चार चार आठ एक एक चार पाँच तीन एक नौ चार चार आठ एक एक चार पाँच तीन एक और इसमें सबसे आगे भी जरूर है क्योंकि मेरा स्वीकार करना चाहता है ये वो तो ये वो फोन नंबर एक और दूसरा फोन नंबर लिख लीजिए वो मेरे ऑफिस का है बदलाव जो हमारा मुख्य कार्य है शून्य सात एक पांच दो शून्य सात एक पांच दो एसपीडी कोड और फोन नंबर है पांच छह शून्य तीन सात तीन five six zero three seven three ये ऑफिस है पता मेरा है राजीव दीक्षित सेवाग्राम वर्मा बस इतना राजीव दीक्षित सेवाग्राम सेवा का गांव है बल्ला के पिन कोड चार सौ बयालीस एक सौ दो नीचे भारत और अगर तुम्हें ईमेल एड्रेस लिखना हो तो ईमेल एड्रेस है Rajiv Dixit R A J I D D I X I T A B A ये एक ही शब्द है Rajiv Dixit A B A at the rate of graduate dot at the rate of graduate dot तो पत्र लिखकर बोल करके जजमेंट से कमेंट भी प्रश्न को अभी आपने दो प्रश्न ये तो मैंने प्रोफेशन मेरे मन में शंका है इसका मैं निरंतर चाहता हूँ मेरा मन आगे में जाकर है अब आगे में जाकर धारने से बाहर है मेरे को लगता है उसमें एक फायदा है जो भी था कि सोने वजह को मतलब जुड़ी है आज फायदे वजह में दाल है दाल का तो भाव पच्चीस रुपए तो से उठकर आज फोर्टी का रुपये आपको मालूम नहीं और अब फोर्टी का रुपये फोर्टी का रुपये दाल है तो जो दाल शेतकरी वर्ग बनाता है उसको इसकी आमदनी पड़ती है इससे क्षेत्रीय वर्ग की आमदनी बढ़ती है और आपने व्याख्यान में कहा है खुद आपने कहा जो क्षेत्रीय वर्ग है उससे आप सोना सोना व्यापार जुड़े थे उनके घर में शादी है तो हमारा सीजन है या हम सब सब जानते हैं तो अगर उनके पास पैसा तो हमारे पास जो पैसा आएगा आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस वस्तु आने से बहुत बढ़ता अच्छा है और क्षेत्र की आमदनी उससे बढ़ती बोझ थी तो महाराष्ट्र में कोई क्षेत्र को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती महाराष्ट्र में सत्तर लाख क्षेत्र काफी उत्पन्न करते हैं सबसे ज्यादा क्षेत्र काफी स्टेट है महाराष्ट्र फिर दूसरा है पैंतालीस लाख क्षेत्र उत्पन्न करते लगभग सत्तालीस लाख क्षेत्रीय हैं जो जवारी बाजरी गेहूं उत्पन्न करते हैं और मुश्किल से पांच या सात लाख क्षेत्रीय हैं जो तुरंत की दाल तुरंत की दाल की दाल करते हैं ये महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा क्षेत्र है काबूस से काबूस फायदा बाजार पर है आपको मालूम खेती उत्पन्न में सबसे पहले काबूस ही आया था आज स्थिति ये है कि पांच साल पहले कांग्रेस को छत्तीस सौ रुपए क्विंटल भाव था अभी वो सत्रह सौ रुपए क्विंटल है तो ये वायदा बाजार आसमान को चढ़ा के जमीन में जब गिराता है ना तो अंतिम आत्महत्या करेगा शेतकारी समाज ने क्या किया मैं बता जब वायदा बाजार शुरू हुआ ना पांच छह साल पहले सबसे पहले कांग्रेस आ गया परिणाम हुआ छब्बीस सौ रुपए सत्ताईस सौ रुपए क्विंटल भाव मिला सरकार ने नहीं दिया शेतकरी वर्ग चारासाठी कापूस जास्त करतो अवघडांना कापूस ही कापूस फक्त लाख शेतकरी कापूस बाकी सब शेतकरी कापूस अंत में क्या हुआ बाईसा बाजार जो खिलाड़ी है ना वो भी दिमाग उन्होंने यहाँ के सत्तर लाख शेतकरी को तो कापूस से लगा के आराम से उस मैदान को क्योंकि ये उनके कंट्रोल में है सरकार तो जो छब्बीस सौ अब स्थिति यह है कि जो शेतकारी ने बाकी सब बंद कर दिया था उस आधारित खेती उसको फिर थोड़े दिन के बाद सरकार ने कहा अच्छा अभी तुम ऐसा करो बेटी कॉटन करो तो बेटी कॉटन लगा दिया पचास रुपए का पहले बीज आता था अब अठारह सौ रुपए का आता अब बेटी कॉटन करो तो ये खत लगाओ ये खत लगाओ परिणाम ये हुआ कि शेतकारी को एक हेक्टेयर खेती में बारह हजार रुपए का खर्चा हो गया और एक एकड़ खेती में जो तो कापूस उत्पन्न होकर बाजार में मिलता है तो आठ हजार सात हजार नौ हजार बारह हजार खर्चा है अब वो तीन हजार का जो घाटा हो तो पूर्ति करने के लिए कर्ज लेता है और कर्ज का ब्याज भरता है फिर कर्ज लेता है और जब देने की ताकत नहीं होती तो आप कल्पना की बात है लाभ होता है एजेंट शेतकरी शेतकरी मेरे आपसे एक निवेदन है आपने गुलमार्ग के विरोध में एकजुट सब होना चाहिए ऐसे बोला अच्छा ये गुलमार्ग है इसके अंदर समझो हमारे पहले अपन अपने सभासद वो भी ये बारे में पहले सोचना चाहिए हम लोग गहने के ऊपर तेईस कैरेट से हम मारते हैं और एक्चुअली दागिना वो बीस कैरेट का हो सेवेंटी फाइव परसेंट है सेवेंटी एट परसेंट है एटी परसेंट है अच्छा गवर्नमेंट लागू करना चाहती है तो उसका सर्वे करें कल उदाहरण का कुछ भी किसी शराब की दुकान में जा रहे तो उधर से दागिना लिया तो इस कैरेक्टर से स्लैब देखा मगर इसकी दागिना वो किस कैरेक्टर निकला अच्छा उसकी गुल्ली खराब हो जाएगी जब अपन उनके साथ ऐसा बदलाव करेंगे हम नहीं करना चाह रहे हम नहीं करेंगे ऐसा नहीं करेंगे तभी वो कोई ना कोई तो कदम उठाएंगे जिसकी वजह से अपने शराब को भी उसका त्रास हो सकता है तभी समझो कि वो 75 गज का जामिना है और वो सब पेपर में आ गया और उसकी गुरगिल जो विश्वास जो आप बोल रहे हो जिस विश्वास से अपन काम करते हैं वो विश्वास उस टाइम सौ वर्ष का विश्वास एक मिनट में टूट जाएगा तभी उसका जिम्मेदार कौन रहेगा ये बहुत बेहतर चीज है कि अपनी सच्चाई आप रखो क्योंकि ये जो है ना धर्म है आपकी सच्चाई आपकी ताकत है आपका ग्राहक आपकी ताकत है आपकी सच्चाई में आप अगर कमजोर पड़े तो लड़के आप साथ ये आप सच्चाई आपकी मजबूत हुआ है जितने कैरेट का दागिना है उतने ही कैरेट का बोल आप इधर करेंगे तो देना दागिना सही है ऐसा थोड़े दिन में होगा जब दो हजार आठ में कंपल्सरी करेंगे ना ऑलमार्ट तो वो एडमेंटल सर्वे करेंगे या एडमेंटल आपके यहाँ आकर चेक करेंगे और वो यही होगा किसी भी दुकान में थोड़ा भी कंट्रोल लाने का मिला उस पर क्लेम कुछ किया गया है वास्तविकता कुछ भी थी तो उनको आधार मिलेगा एक व्यक्ति की कमजोरी पूरे समाज को तकलीफ देगी तो आपको मैंने ये बात कही है कि जैसे आप ये संघर्ष करो हम बहुत नहीं देंगे वैसे आपको में नहीं करते आप संघर्ष करो कि हम हमारी सच्चाई नहीं कोई मदद नहीं इसमें मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि बहुत लड़के से क्वालिटी की कोई गारंटी ना हो तो इसमें कम क्वालिटी के डाक्यूमेंट में भी और अच्छी क्वालिटी में भी मिलता अगर गवर्नमेंट नाइन्टी परसेंट का होता उसी उर्वरक में सिर्फ नाइन परसेंट का तो बात सही होगी पचास टका देंगे साठ टका देंगे सत्तर टका देंगे उसका क्या मतलब क्या होता है मुझे आपसे कहना ये है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये नहीं है कि तो तो ग्राहक को दस की सोने का दागिना मिले उनका तो रजिस्टर मिलता है अपना निर्माण मिलता है जैसे ईश्वर को ग्राहक को भरोसा फिर उसमें यही अपने से कि आप रहे एक बार और आप तो ग्राहक को ये दोनों ऑप्शन आपके खुले करत असताना कोल्हापूर शराब व्यापारी संघ म्हणून आहे तर त्यांना आपण ज्यावेळी हे आपल्याला सांगतात आपण व्याख्यान आणले म्हणजे त्यांचं मार्गदर्शन घ्यायला आणतोय त्यांचं मार्गदर्शन आपण घेत असताना आपल्याला कुठेही अयोग्य म्हणजे त्याचं सध्या म्हणून आपण चुकू नये म्हणून मी त्याला विचारलं आम्ही आंदोलन करा सांगितलं त्याला आणि उद्या आता माल असा आहे की उद्या कुठेतरी आपण प्रॉब्लेम लागलो तर कोल्हापूर सराफ व्यापारी संघाचं नाव त्यात असं कुठेही बोललं जातं तुला कुठे काय म्हटलं मी मी जो प्रश्न विचारायला मला त्याला एक दूसरी बात निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं उसमें मतभेद करिए बहुत बड़े काम के लिए छोटे छोटे मतभेद को बाधित रखिए क्वालिटी के नंबर